अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल बयान की है वो दोनों हमारे बंदों में से दो नेक बंदों के निकाह में थीं फिर उन दोनों ने उनसे खयानत की तो वो अल्लाह ताला से बचाने में उनके कुछ भी काम ना आए और उनसे कह दिया गया दाखिल होने वालों के साथ तुम दोनों भी आग में दाखिल हो जाओ